பிரம்மாதீன அரசே தேவதி நம்பனீன அரசே தேவதி நம்பனீன பண்டதே ஹரிசி மாணி பண்டதே ஹரிசி மாணி பிரமாணி பிரமாணி இதன்மறையா இருந்தவரியா அறிவாதகிரி

कमलगिरी राम चंद्र की जय पवन कुमार की जय गुरु हरिदास संतन की जय मेरे देव समिति सिद्धाना बाकी बात हो प्रार्थना शांत हो उसके बाद आश्वासन मिल गया तो सब देवता लोग अपने अपने नाम दे कभी कभी हाँ यहाँ आए थे वहाँ वहाँ करते

पहले भी कथा बहुत सुंदर कथा जिस प्रकार देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा ने प्रार्थना की पूरे पर बहुत शिक्षा की बातें हैं बहुत समझने की बातें हैं लेकिन अपने अंदर भी कथा को देखना चाहिए अपने अंदर देखते हैं हम पाते हैं कि मानो मोह है अविद्या है और उसके साथ में विवाह है तो ये पदार्थ अपने यहाँ हुए हैं और उन्हीं के कारण से हम पीड़ित हो गए विकार लाने के लिए इन मानसिक विकारों से छुट्टी पाने शांति मिले तो उसके लिए हमें परमात्मा की शरण में जाना चाहिए जो प्रार्थना यहाँ सिखानी गई हनुमान जी के द्वारा उसके साथ ये है कि हम भगवान से प्रार्थना करें और हमारे ब्रह्मा है वो हमारी ही हमारे ब्रह्मांड है

हमारी साधना है सर्वकामना हिंदी नहीं हम गए और भगवत भाव के कर्म करना है उपासना तो करनी है पूजा करनी है जय करना है ध्यान करना है ये सब भगवान के प्रार्थना के रूप में हमें भगवान को आह्वान करते हैं गुहामी के बाद साधना करते करते व्यक्ति को एक अवस्था रहती आती है जब उसे करने देता है कि कर रहे हैं वो सार्थक हो नहीं है और के अंदर ही प्रेरणा प्राप्त होती है जैसे अपने हृदय के अंदर आवाज भीतर से परमात्मा और हम प्रकट होंगे यही परमात्मा प्रकट है अपने समय साधना करने वाले व्यक्ति परमात्मा को ध्यान दीजिए समर्पण की हो जाए सब कुछ अपनी और बाद में परमात्मा का जो हृदय में आना है वो अपने समय के आना है जैसे यहाँ आकाशवाणी बिल्कुल कही और बोधिया दर्शन और इसके मैंने ये धीरे धीरे करके व्यक्ति मंत्री शुद्ध हों और भी शुद्ध हों और भी निर्गम हों उनमें और भी लागत आवे ये माध्यम से जब ऐसी योग्यता आ जाएगी कि भगवान हृदय में प्रकट हों तो भगवान प्रकट भी होंगे तो इसलिए उसके लिए अपने अंदर जो आंतरिक विकास प्रमता चल रहा है तो उसके लिए प्रतीक्षा करनी तो होगी आकाशवाणी हो गई लेकिन भगवान अवतार में उसके लिए प्रतीक्षा ऐसे अपने में परमात्मा का समर्पण हो गया प्रेम हो गया भक्ति हो गई परमात्मा का ज्ञान भी हो गया अपने शिष्य को परमात्मा में जाने के लिए ये बातें हो गई लेकिन वो परमात्मा फिर भी अपने में अप्रगट हुआ है वो प्रगट धीरे धीरे होता है समय आएगा और वो परमात्मा प्रगट लेकिन इसी समय से साधना काल से ही और जहाँ मान लो हृदय में आश्वासन की प्रतीक होने का किसी को इसमें आना ही है और का आना है हमारा कल्याण ही होगा उसी करने से व्यक्ति को एक शांति और संतोष मिले और वो उसके लिए सुख का एक रूप बन यदि ये कहते हैं कि <clears throat> देव ज्ञान ये सब देव सब देवता और सबके मनों में सामा सबके जो मन में धन बल्कि ज्ञानता भी ज्ञानता रूप भी ये परमात्मा के घर में आने के पहले के लक्षण परमात्मा को आए बाद में कुछ हमारे मन में बुद्धि में स्वभाव में पहले कुछ को परिवर्तन करेगा तब आएगा व्यवस्था को इस प्रकार बनेगी जैसे परमात्मा हृदय में हो सके तो उसके लिए उसमें विश्राम प्राप्त हुआ लोगों को तो ऐसे ही साधकों के मन में बोला लोग ब्रह्मा अच्छे जन्म और जैसा जी ने दिया था देवताओं ने वैसा ही किया और जन्म संस्कार करके भगवान को उतार देंगे जब उतार लेकिन उन्होंने कहा करके पहले भगवान के अवतार में और भगवान करते हैं उनकी प्रतीक्षा करते यदि पहले से तो हमारे इसलिए जो है बांध लेना घटी हुई भानुओं की लेना घटी हुई तो सामान उसमें क्या बता देंगे उसका गुहा करके आता है सामान गुहा हाँ? ये बुरे के दिल गए बाकी है कि भगवान नाम के लागे भगवान की पहले के लागे पहले से रखे भगवान आएंगे तरह के भगवान के में तरह के हनुमान कहते हैं ये गाने के यहाँ से देव जन्म किया देवताल बहुत प्रसन्न हुए और उनके मेहर आई घर पर जा करके और बंदर देव हरी समाही जैसा समाज ने कहा वैसे क्या बंदर देव हरी ये बंदर में बात करने वाले हैं ये यहाँ मानवों के साथ अनुगमनामाय अनुमान्य अंदर अनुधान्य प्रतिमा प्रतिमा प्रतिविधा करके लोगों ने और आगे लिया अगले वर्ष प्राप्त पानी ये देवताएं ये नदी बहुत होती है अगले वर्ष बड़े शक्तिमान ये सभी लोगों ने अब जैसे साधारण मानव होते हैं वैसे मानव होकर के विशेष संपन्न मानव होते हैं जैसे भालू होते हैं वैसे भालू न होकर के भी जैसे ये भालू और फिर इन्होंने ये में आयु सब दिया अब इनके आयु क्या है आयु में कहते वृक्ष के नाथों आयु सब इन सब जीवों के लिए तीन हथियार हाथों में नामी से जो तो मुख से भागने लगते हैं वो उनके लिए और दूसरे पेड़ पेड़ उठा उठा कर चोरी चढ़ाने मारे विकास उनके लिए पेड़ हो गए बनने तमाम पेड़ और फिर पता जहाँ भाग है बच्चों के बड़े बड़े पेड़ लगा लिए और उन्हें चोरी मारा किसी पर इसलिए अब घर में रह करके इन तीन प्रकार के अर्थ चलाने का अभ्यास करें एक लोग अपने एक दक्षिणावर दक्षिणावर ऐसे उपयोग भाग भाग मिलते हैं राशियाँ टोटो मिलते हैं उनका एक्सरसाइज करने का ध्यान करके वो जैसे सैनिक लोग अपने कैंप में एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज करते हैं जैसे भागना को आदमी वहाँ से जारी रहते ये आदमी यहाँ काम खरीदती ये अरे मारे नहीं दिखला मेरे साथ बताया था ये सब लोग भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने अपने अपने एक्सरसाइज कर में लगे हुए हैं करने की तैयारी और ये कारण जहाँ नाम हुई जहाँ पहाड़ हैं और बल हैं वहाँ वहाँ हमारे सब भटके ले जाना और ऑनलाइन के भटके ले जाना सब पर्वत में पर्वत हमें आने के निकालना भाग निकालना जिसे रामायण मानव तमाम मानवी मानव मानवी मानव दिखाई दे ये घर से चले और अनेक दूरी की और फिर वहाँ पे की अनेक बनाई अनेक सेना सेना में एक सेना लगी और बाकी उन लोग अपने सैनिक बनाए और सैनिक बना करके सबको यूज करना है सबको ना देखो तो मुझे मिला उन सबको यूज करना पड़ेगा और बड़े संस्थानी लोगों ये काम हम लोगों का होगा इसलिए हम लोग और हम लोगों को पास से विचार है हम लोगों के पास ये पेड़ है पर्वत है इन्हीं को उठाओ इन्हीं को चलाओ और अभ्यास ये हम लोग अभ्यास कर रहे हैं लेकिन इनका अभ्यास है विरुद्ध होगा तो वहाँ देखेंगे कि ये बानर लोग ऐसे नहीं होता कि एक टाइम में जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो विभाग का सेना खड़ी हो गई एक युग में युग में अगर उसने बन गया तो युग की सेनाओं के प्रकार यदि कोई के तो सेना इस प्रकार प्रकार की का सेनाएं करते थे तो सब जितने सैनिक थे और लेकिन विभानक लोग कहेंगे इनको कहीं एक स्थान पर एक सेना है एक लाइन में खड़े होकर के ये आगे पीछे पर जिनके सत्ता इनकी देवी क्या है और युद्ध की इनकी विशेषता क्या है कौन से साथ लगा सकता है कौन सा चले सकता है कौन तो पहाड़ पर रह जाए लगा करके कौन नीचे पड़े करके इनके है बात और उनका तो कहने के कारण हुई रहे करके सुंदर ध्यान सुंदर ध्यान करेंगे बाथरूम का है ये सब कहने सामने और स्वामी के सबको करते हैं और आपस में कोई जरूरत नहीं मैंने ये एक दूसरे से विरोध भावना

रियल से रहा हूँ अयोध्या नगरी है और रघुकुल मनाओ और वहाँ पर जो रघुकुल के मनारायण है महाराज दशरथ दशरथ का नाम वहाँ पर अवतार हो गया अब चाहे दशरथ में वो कैसे हो चाहे दशरथ मन हो और चाहे और कोई हो आकर के उन्होंने दशरथ रघुकुल मनाओ वेद विदित से रत्ना એવી बहुत आदमी पास अयोध्या को ले गई नहीं बहुत आदमी में और वहाँ के राजा भी दशरथ हैं ये भी बहुत आदमी महाराज लोग दशरथ जानते हैं तो ये महाराज दशरथ अयोध्या में पहुंचे और धर्म धर्म धर्म यानी ये जो है अब ये दशरथ जी की महिमा है दशरथ जी कहते हैं कि धर्म की दूरी को धारण करने वाले हैं गुण नित्य समस्त गुणों के भंडार हैं और ज्ञानी और उनके भगवान की है और मंदिर और उनके पानी भगवान भगवान भगवान राम का उनके उनके है और उनके बुद्धि में हृदय प्रेम है और बुद्धि में भगवान का ज्ञान है तो ज्ञान और भक्ति ऐसे समन्वित है

समान इंद्रिया और रचनाएं उनके ध्यान पर संचालन करने वाले उनके शत्रु पर नियंत्रण करने वाले तो महाराज अगर देखो को सावधान रखें आगे चल करके हाँ ये दिखाई दे रहा है कि यही उन्होंने प्रधान दे दिया प्रधान लाभ को दे दिया वहाँ ऐसा कर्मचार के असर जो वो बहुत निरस्त व्यक्ति हुए वो भगवान महाभारत के ये तो ये तो पहले जन्मिए मन हो तो भी उन्होंने बहुत अच्छा किए बड़े अनाथा रहे और बड़े श्रेष्ठ रहे और कर्षक हो ये भी नीति रहे फिर उन्होंने आकर के सदस्य उदाहरण किया तो पूर्ण तरह से रस गुणवान ज्ञानवान भगवान भक्ति रखने वाले अगर भगवान के भक्ति मन संतुपा न होती भगवान कैसा पाते थे हमारे यहाँ प्रगति भगवान के यहाँ होते हैं भगवान भी देते हैं तुम्हारे यहाँ भगवान के लिए और भगवान के न होती वो भगवान कैसे तो देते तो भगवान को बात करने का भगवान बात करके आए इसके माने भगवान की कृपा इनके है इनके ऊपर में भगवान का ध्यान भी है भगवान की भक्ति भी है ये सब आदर नहीं है हमें आध्यात्मिक रूप से हमारे अंदर की जो वृत्तियाँ हमारी हैं उनमें से एक वृत्ति है वो दर्शन के मान नहीं है जैसे दर्शन ज्ञानवान है जैसे धर्म नहीं है किसी प्रकार से हमारी दूरी हमारे किसी प्रकार का परमात्मा के प्रति अगर हम चाहते हैं हमारे घर में परमात्मा हाजिर हो तो, तो उसके लिए पहले से उनका कल्याण हो है अनुकूल माता क्रम हो जाए सर्वस्व करे थे और जैसे उनकी तीन मानिया है उनकी तरह से ये अपने अंदर अनुकूल स्थिति प्राप्त हो तो कई जब भ्रमण करते हैं कुछ तो आगे सब बातों को ध्यान करते थे सब योजना के कार्य बनते हैं चाहे आप अपने आध्यात्मिक अर्थ में अपने स्तर का ले लें तो मिल जाए चाहे विभाग रूप में ले लें तो मिल जाए और भी कई योजन के हैं वो भी मालूम हो जाता है पता चल जाता है एक कहते हैं कोई कोई लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि में हमारे में है भगवान हमारे हृदय में है और उसको में दिखना तो इसके मान्य है कि में भगवान राम का नहीं हुआ और नहीं हुआ तो आप करना चाहते अपने स्थान को तो भगवान में रखे कि बेटा जी भगवान ने बार किया राम विवाह भगवान राम कुमार पूरे बिहार अपने स्थान रखे लेकिन पूरे बिहार ये भी रखे है कि वो परमात्मा उसी प्रकार से जैसे वहाँ घटना घटी उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति के हृदय में परमात्मा जब अवतार लेता है तो यही घटना घटती है उसी भगवान करके उनका तो करता है लेकिन तो वो करने के पहले व्यक्ति को परमात्मा के प्रति समर्पण उसके प्रति भक्ति ये सब उसको हृदय में अगर हृदय भक्ति न हो तो भगवान भजन करे नहीं अगर परमात्मा का ज्ञान न हो तो भजन परमात्मा करे नहीं परमात्मा होने तो सब हैं भले लोगों के अगर हम चाहें हमारे हृदय में परमात्मा भर दो और ये काम को धारण विकारों को दूर करके विद्या को दूर कर दे वो दूर कर दे तो ग्रहण को ध्यान में हृदय में तो ये बताते ज्ञान प्रदानी को इसलिए चिंता नहीं आया करनी इसलिए ऐसे कि हम यदि आदरण होंगे तो यहाँ पर समझने की चीज लोगों की तरफ उनकी अपने अंदर समझने के लिए कि वो जीव कैसा है जीव उसमें जीव में जो सूर्य प्रवृत्तियाँ वो जीवन में होगी है अब वो सर्वगुण मन हो गया है अब वो जीव में भगवान की शक्ति आ गई है उसके हृदय में ज्ञान भी आ गया है ऐसा करके जीव हो गया है तब तो ऐसा जीव अनिवार्य है परमात्मा को प्राप्त करने का उसकी परमात्मा प्रगट हो अब उसके लिए जीव के सहायक सत्वों रजों सर्वगुण है वो भी श्रेष्ठ हों यदि यदि नान्य तो क्योंकि जीव के साथ को बाल्य है तो यदि अज्ञान है नहीं वो बाल्य पर विचुप नहीं गई क्रिया आत्मा आत्मा शुद्ध हो तो नहीं गया अभी उसके साथ साथ बाल्य है तो बाल्य की है तो बाल्य की वासना हो बाल्य शब्दगुण की रजोगुण की कर्मों की तो यदि नान्य रहेंगे यदि मोशन है और ज्ञान है शत्रु मोशन उस प्रकार से चाहिए वो प्रमुखी होती हाँ, और स्मृता है वो मृदमुखी होती इस प्रकार से एक लड़की ये अलग अलग जो की प्रतीक होती उनके आचरण में उसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं उनका जैसा व्यवहार है बातचीत है उसे उसी प्रकार की होती ये कहते हैं ये कौशल्या है कौशल्या के बाद स्वामी के नाम ले लेते हैं बस कौशल्या आदि

और ये सबको भगवान के कर्मों में इनका कर्म एक है और कहती है देखो एक एक ही लोहे में स्त्रियों के लिए शिक्षा स्त्रियों को अपने जीवन की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए हाँ? नंबर एक आचरण में पूरी उनका आचरण को आचरण आचरण नंबर दो पद के अनुरूप तीसरी बात क्या कि उनको पद के अनुकूल हो लेकिन प्रेम होगा आसान नहीं प्रेम मतलब हरिपद भगवान के कर्मों में सरल हो और इनकी स्त्रियों का सब अनेक गुण जैसे हैं पुरुषों के लिए भगवान राम आदि के लिए ही कर्मों की विशेषता हैं इसलिए स्त्रियों के लिए कहा जाता है तो उन्होंने प्रेम का जन्मदान का मुख्य अगर किसी ने छोड़ी हो और भी जितने उनकी अनेक प्रकार के इसलिए जन्मदा सबसे श्रेष्ठ और जन्मदा अभी जितने वो सब आ गए आचरण विभाग हमें जीवन के दो रूप रहे हैं एक व्यवहारिक रूप और एक पारमार्थिक रूप पारमार्थिक रूप में तीनों का भी पारमार्थिक में क्या परमात्मा में पारमार्थिक रूप लौकिक रूप व्यवहार कैसा हुआ केवल के नाम हिंसा हो गई आचरण निर्भरता हो गई और व्यवहार में सभी लोगों के साथ में निर्भरता का भाव हो गया इसलिए एक प्रकार से व्यवहारिक जीवन की रूपरेखा हो गया ये सब पक्ष जितने हैं उसके साथ एक और फिर इसके प्रकार अंदर भेज रहे हैं अब आचरण कैसा कैसा आचरण क्या क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए आपको धन आगे विचार होगी तो वहाँ प्रकार होगा <clears throat> इस तरह से है भगवान जहाँ अवतार देते हैं वो अयोध्या जय राम जय जय